नमस्कार मित्रों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से मिशनरी मल्टीनेशनल कंपनियां अरविंद भाई का उपयोग कर सकते हैं नमो का वोट काटने के लिए क्योंकि नरेंद्र मोदी और बियंका गांधी में बियंका गांधी में पीएम के लिए कंपटीशन होगा तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो अधिकतर इसको वोट देगा और हजार रुपये दिया जाए तो वो हजार रुपये खर्च कर देगा लेकिन वोट नंबर से आपको ही देगा इसलिए वोट तोड़ने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियां कांग्रेस मिशनरियों ने इसको खड़ा किया मतलब इसकी मीडिया में पब्लिसिटी दे रहे हैं वो मैंने एक वीडियो बताया बनाया था और बिना किसी पेड मीडिया की पब्लिसिटी के 4000 से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा काफी सारे कमेंट्स भी आए फेसबुक पर यूट्यूब के अकाउंट पर और क्वेश्चंस भी आए और ये वीडियो उसी के लिए है कि उसका उपाय क्या है क्योंकि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आया वो ये था कि भाई इस समस्या का उपाय क्या है तो इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा प्रॉब्लम इस तरह से है मैंने इसका प्रूफ दिया था पहले कि जो पेड मीडिया है वो अरविंद भाई को इस तरह से कवरेज दे रहा है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास में अच्छा प्रभाव आए अपर मिडिल क्लास में और लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास में सबसे कम से कम कवरेज मिले जिसका मैंने प्रूफ दिया था 25 मई का अंग्रेजी हिंदुस्तान टाइम्स फ्रंट पेज पे लिखा है मस्ट रीड और सेंटर में अरविंद भाई का फोटो है और आपका बारे में है कि आ, Aam Aadmi Party release first list of daily poll उसके बाद ये फर्स्ट पेज पे और उसके बाद फोर्थ पेज पे आधा पेज भर के अरविंद भाई को कवरेज मिला है और उनका फोटो है और वही पेड हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी ये 25 मई उसी तारीख का है आप देखो फ्रंट पेज पे कहीं भी अरविंद भाई का फोटो नहीं है फ्रंट पेज पे और फोर्थ पेज पे भी कोई अरविंद भाई का नामो निशान नहीं है ये पूरा फोर्थ पेज है और सिक्स पेज पे वन फोर्थ पेज एक चौथा ही हिस्सा ही दिया है और एक होता है स्पेस कितनी देना और तरीका किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है अखबार में इसको एक हीरो की तरह अंग्रेजी अखबार ने पेड हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी उसने हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया जबकि पेड हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी जो है उसने अरविंद भाई को इस तरह से लिखा कि एक और नेता आ गया वोट मांगने के लिए पूरा तरीका ही अलग है निखारने का मतलब निखारा नहीं है इसने बदनाम कर दिया हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी ने कि एक और नेता आ गया है वोट मांगने के लिए यानी जो लोअर मिडिल क्लास के वोटर है जो कि हिंदी हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं वो कम से कम वोट देंगे और जो अपर मिडिल क्लास है वो ज्यादा वोट देगा तो अपर मिडिल क्लास है वो ज्यादा मोदी को फेवर करता है तो मोदी के वोटर अरविंद भाई की ओर खींचे इस तरह का उसने उपयोग किया और मैंने एक एग्जाम्पल दिया था चिरंजीव का कि वाईएसआर रेड्डी जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश में 2009 में 2009 में कांग्रेस लोकसभा का लोकसभा का और विधानसभा आंध्र प्रदेश विधानसभा दोनों का इलेक्शन था मई 2009 में ये भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थे सारा धंधा है मर्डर का स्मगलिंग का mining mafia real estate mafia ये दो भी बहुत करप्ट है लेकिन इसके मुकाबले कुछ नहीं आएंगे ये भाजपा के वेंकैया नायडू चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के तो इनके वोटर वो एजुकेटेड जो मिडिल क्लास है वो इनके वोट ना दे इसलिए कांग्रेस ने चिरंजीव को खड़ा किया और चिरंजीव यही बोलता था कि भाजपा करप्ट है कांग्रेस करप्ट है टीडीपी करप्ट है इसलिए मेरी पार्टी को वोट दो उसकी पार्टी का नाम भी बहुत अच्छा था आम आदमी पार्टी जैसे अच्छी है वैसे प्रजा पार्टी तो ये सब और कुछ नहीं है ये भारत स्तर के चिरंजीव के सिवा और कुछ नहीं है तो वो मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया और जैसे मैंने आपको कहा कि बिना किसी पेड मीडिया की पब्लिसिटी के उसको 4000 व्यू मिले और बहुत सारे लोगों ने उसको अपने अकाउंट में कॉपी किया और वहां भी काफी ज्यादा व्यू मिले तो सब मिला के तो शायद व्यू 10000 हो गए जो कि एक पॉलिटिकल वीडियो के लिए बहुत ज्यादा है आमतौर पर यूट्यूब पे 99.9 परसेंट ट्रैफिक एंटरटेनमेंट वीडियो को मिलता है और पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ऐसा है 99 परसेंट पॉइंट 99.9 परसेंट यूज जो इंटरनेट का वो एंटरटेनमेंट uh, के लिए होता है वैसे ही पॉलिटिकल वीडियो को बहुत कम कवरेज मिलता है और उसमें ऐसे टेक्निकल टॉपिक हो तो और भी व्यूअरशिप कम हो जाती है और पेड मीडिया का सपोर्ट ना हो तो तो व्यूअरशिप और भी कम हो जाती है उसके बावजूद भी चार पांच हजार कार्यकर्ताओं ने ये वीडियो देखा अब उनका क्वेश्चन आया कि भाई इसका उपाय क्या कि मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी तो जो करना है वो करेंगे उनको तो हम रोक नहीं सकते तो अब हम मिडिल क्लास वोटर को या एक्टिविस्ट को जो कि अरविंद गांधी अरविंद भाई के अंधभक्त बन गए हैं उनको कैसे रोके या उनको कैसे कन्विंस करे कि भाई ये आदमी सिर्फ ये आदमी को मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरियों ने खड़ा किया है और सिर्फ इसलिए ताकि मोदी के वोट टूटे तो उसके लिए मैं कुछ सॉल्यूशंस देने के लिए ये वीडियो बनाई है तो पहले तो क्या नॉन नॉन सॉल्यूशन की कौन कौन सी चीजें काम नहीं करने वाली किस पे काम नहीं करने वाली एक आदमी जो कि इसका अंधभक्त बन गया है अब एक बार अंधभक्त बनने के बाद उसको वापस खींचना और भी मुश्किल है सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से भाजपा के और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने फरवरी 2011 में क्या की कि इन्होंने टीम अन्ना की बहुत तारीफ की घर घर में उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने टीम अन्ना के पंपलेट बांटे थे अब एक बार उन्होंने कन्विंस कर दिया कि उस समय उनको पता नहीं था कि ये आदमी अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा कांग्रेस के साथ मिल जाएगा नमो मोदी साहब के वोट तोड़ेगा वो अंदाज नहीं था ये मैं फरवरी 2011 की बात कर रहा हूँ ये पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा वो तो अगस्त 2012 में स्पष्ट हुआ जुलाई 2012 में स्पष्ट हुआ तो अब एक बार इसको हीरो बना दिया तो अब इसको खींचना बहुत मुश्किल उसके अंधभक्तों को खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है कौन कौन से तरीके काम नहीं करेंगे कि आप अरविंद भाई की कितना भी उनका क्रिटिसाइज करो कि ये आदमी ऐसे ये आदमी ऐसे वो नहीं चलेगा क्योंकि वो अंत में ये बात बोलेगी कि भाई आदमी की बात क्या गलत है चलो आदमी गलत है वैसे इन्होंने कोई कभी रिश्वत नहीं ली ये इनकम टैक्स में थे तब इन्होंने कभी कोई पैसा नहीं खाया यानी इनके पर्सनल आप देखोगे तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं फिर आप ये आरोप लगाओगे कि उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया था तो वो आरोप भी ज्यादा काम करने नहीं वाला क्यों नहीं करने वाला क्यों क्योंकि भाई वो एनजीओ चला रहे थे और एनजीओ किसी से भी पैसा ले सकता है वो गैर कानूनी तो नहीं है ना फोर्ड फाउंडेशन या किसी से पैसा लेना गैर कानूनी तो नहीं है भारत सरकार के कानून में आता है तो ये काम नहीं करने वाला कि आप उसकी बुराई करो दूसरा मोदी जी की तारीफ करना का काम भी काम नहीं करने वाला क्योंकि काफी बड़ा वर्ग भारत में यह मानता है कि कांग्रेस भ्रष्ट है और बीजेपी भी भ्रष्ट है और वो बीजेपी भ्रष्ट है वो फैक्ट है आप फैक्ट को झुठलाने की कोशिश करोगे तो वो तो चलने ही नहीं वाला बीजेपी खुद भी आजकल प्रचार का क्या मुद्दा ले रही है कि हम बीजेपी नहीं नरेंद्र मोदी को वोट दो क्योंकि बीजेपी मान लो नरेंद्र मोदी को साइड में करके बीजेपी वोट मांगने निकले तो उसको भी वोट नहीं मिलने वाले इसलिए और सिर्फ नरेंद्र मोदी की तारीफ करोगे तो एक पॉइंट के बाद क्यों काम नहीं करने वाला क्योंकि इसके जो अंधभक्त है वो ये मान के चल रहे हैं कि एक आदमी से पूरी व्यवस्था नहीं बदली जा सकती इसलिए इसके भक्त कौन है जो कि मानते हैं कि बीजेपी खराब है which is a fact Congress खराब है विच इज अ फैक्ट और आम आदमी पार्टी है या अरविंद भाई है वो व्यवस्था बदल के देश को सुधारने वाले हैं तो अब किस तरह से तुम इनके वॉलेंटियर को कन्विंस कर सकते हो कि भाई इस आदमी का एक ही काम है मोदी साहब के वोट तोड़ना या तो एंड में मोदी साहब से मिल जाना यानी किस तरह से कि या तो ये खुद मिल जाएंगे कि भाई मुझे इतनी सीट दो तो मैं बीजेपी को सपोर्ट दूंगा या तो इसके जो स्पॉन्सर है हिंदू जा या जो भी स्पॉन्सर है इसके मल्टीनेशनल कंपनियां जो कि अखबार वालों को पैसा दे रही है इसके फेवर में छापने के लिए वो स्पॉन्सर मोदी साहब को कहेंगे कि भाई इतने इतने हमारे जो बीजेपी में एजेंट है उनको टिकट दो तो इलेक्शन के जो तीन चार महीने हैं उसके दौरान हम इसको कम कवरेज देंगे आपको ज्यादा कवरेज देंगे और इस तरह से आपसे आपके कम से कम वोट टूटेंगे यानी इसको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे इसके जो स्पॉन्सर है अरविंद भाई के स्पॉन्सर यानी अरविंद भाई के जो स्पॉन्सर है वो अरविंद भाई को पैसा नहीं दे रहे क्योंकि यदि वो डायरेक्टली अरविंद भाई को पैसा देंगे तो तो एक्सपोज हो जाएगा पूरा मामला अरविंद भाई के जो स्पॉन्सर है वो अखबार वालों को पैसा दे रहे हैं टीवी चैनल वालों को पैसा दे रहे हैं कि इनका फोटो छापो और इनको हीरो की तरह प्रोजेक्ट छापो जो तरीका दुरात्मा गांधी और अंग्रेजों ने किया था अंग्रेज थे वो सीधा सीधा पैसा नहीं देते थे दुरात्मा गांधी को वरना तो दुरात्मा गांधी एक्सपोज हो जाते सबको पता लग जाता कि ये दुरात्मा है इसलिए अंग्रेज क्या करते थे अंग्रेज का वाइस रॉय है वो टाटा बिरला बजाज सारा भाई इन सबको फोन करके बोलता था कि मोहन भाई को पैसा दो और वो मोहन भाई को आश्रम की एक्टिविटी चलाने के नाम पे पैसा देते थे और वही अंग्रेज टाइम्स ऑफ इंडिया वाले को पैसा देते थे कि मोहन भाई का फोटो फ्रंट पेज पे छापो थर्ड पेज पे छापो हर एक पेज पे छापो और उनको पब्लिक ने घारो और वह अंग्रेज बिरला वगैरह को भी पैसा देते थे कि भाई तुम्हारे जो अखबार है उस समय बिरला काफी सारे अखबार चलाते थे और भी भारत के लोग अखबार चलाते थे उनको पैसा देते थे कि तुम मोहन भाई का फोटो छापो तो वाइस रॉय ने कभी सीधा मोहन भाई को कैश या चेक नहीं दिया पर उसने दूसरे लोगों के थ्रू चेक भिजवाया इसी तरह से इनके जो स्पॉन्सर है वो सीधा पैसा अखबार वालों को देते हैं और अखबार वाले इनके गुणगान छापते हैं तो अब ऐसे में आप ये बात अरविंद भाई के अंधभक्तों को कहने जाओगे तो पहले तो वो सबूत मांगेगी कि भाई सबूत क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने पैसा दिया पेड हिंदुस्तान टाइम्स हो या पेड टाइम्स ऑफ इंडिया हो या तो वो कन्विंस करना पॉसिबल है पर इतना आसान नहीं है मतलब पॉसिबल है मैं कहूंगा कि आप कन्विंस करने की कोशिश करो कि पूरा मीडिया है वो किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों के पैसे पे चलता है एक तो वो है कि आप मीडिया की पोल खोलो जैसे जैसे पेड मीडिया की पोल खुलती जाएगी लोग समझते जाएंगे कि भाई इसका किसी ने पैसा दिया जिसने पैसा दिया वो कौन है इसका किसी ने पैसा दिया जिसने पैसा दिया वो कौन है जैसे जैसे उनकी बात में समझ में आती जाएगी इनके अंतभक्त कम होते जाएंगे दूसरा आप सीधा लोकपाल के मुद्दे पे आओ कि भाई लोकपाल जिसमें राइट टू रिकॉल लोकपाल के क्लॉजेस न हो वो कानून एमएनसी पाल है मिशनरी पाल है वो मेरा उस पर पूरा वीडियो है और मैंने अपने बुक में भी लिखा है ये मेरी बुक है Rahul Mehta dot com slash 301.htm इसका चैप्टर 45 में मैंने एक्सप्लेन किया है कि लोकपाल है वो किस तरह से सी पाल का खेल है मल्टीनेशनल कंपनियों का पाल उसमें सब एक्सप्लेन किया है कि इससे मल्टीनेशनल कंपनियों का काम कैसे आसान हो जाएगा लो, जन लोकपाल सिस्टम आने से कि उन्हें सिर्फ ग्यारह जन लोकपाल के रिश्तेदारों को हर एक जन लोकपाल के एक दो एक दो रिश्तेदारों को पैसे देने हैं और 11 के द्वारा वो पूरे हिंदुस्तान के 11000 मंत्रियों पे अफसर पे आईएएस आईपीएस मंत्री है उन पे कंट्रोल करेंगे यानी राइट टू रिकॉल जन लोकपाल ना हो तो जन लोकपाल एमएनसी पाल है मिशनरी पाल है ये बात कन्विंस कराना पॉसिबल है क्योंकि वो फैक्ट है वो लोकपाल का कानून देख के आप किसी को बता सकते हो कि इसमें राइट टू रिकॉल लोकपाल ना हुआ और वो जन लोकपाल मल्टीनेशनल कंपनियों का एजेंट हो जाएगा या तो मल्टीनेशनल कंपनी है रॉकोफेलर वगैरह वो अपने एजेंटों को जन लोकपाल की जगह बिठा देंगे और फिर एक्सपोज करो अरविंद भाई को कि अरविंद भाई ने राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के क्लॉज यानी कि प्रजा जन लोकपाल को निकाल सके सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट न्यायाधीश नहीं प्रजा जन लोकपाल को निकाल सके इस तरह का कोई क्लॉज उन्होंने नहीं आने दिया वो भी फैक्ट है आप जन लोकपाल का लेटेस्ट ड्राफ्ट आम आदमी पार्टी के वेबसाइट से डाउनलोड करके देखो उसमें पब्लिक जन लोकपाल को निकाल सके इस तरह का कोई क्लॉज अरविंद भाई ने नहीं आने दिया और इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं चाहती यदि अरविंद भाई राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के क्लॉज को सपोर्ट करेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनियां अखबारों को पैसा देना बंद कर देगी कि भाई कल से इनका फोटो मत छापना तो अरविंद भाई के जो समर्थक है उनके जो भक्त है चेले हैं उनको आपको ये बात पे कन्विंस करना पड़ेगा कि अरविंद भाई ने राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का विरोध किया जिससे कि साबित होता है कि वो भारत में मल्टी एमएनसी पाल या मिशनरी पाल का कानून चाहते हैं तो भाई यदि ये आदमी साफ सुथरा है नियत का तो ये मिशनरी पाल कानून का क्यों समर्थन कर रहा है दूसरा आम आदमी पार्टी के जो का भारत में काफी सारे ईमानदार एक्टिविस्ट अरविंद भाई के समर्थक क्यों बने क्योंकि अरविंद भाई ने ये झूठ उनके गले में उतार दिया है, दिमाग में उतार दिया है कि अरविंद भाई राइट टू रिकॉल का कानून भारत में लाना चाहते हैं। तो आपको अरविंद भाई के भक्तों को यह समझाना पड़ेगा कि अरविंद भाई को राइट टू रिकॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो आप कैसे प्रूव करोगे? एक, उनको कहो कि भाई उन्होंने फरवरी 2011 में राइट टू रिकॉल की बात की थी। वैसे तो अगस्त 2010 में की थी, पर फरवरी 2011 में तो जंतर मंतर में टीवी के सामने कही थी दो ढाई साल हो गए इस बात को अभी तक अरविंद भाई ने राइट टू रिकॉल एमपी का ड्राफ्ट आम आदमी पार्टी के वेबसाइट पे नहीं रखा ड्राफ्ट सिर्फ स्टेटमेंट रखा है कि हम राइट टू रिकॉल का कानून लाएंगे पर राइट टू रिकॉल अमल में लाने के लिए क्या प्रोसीजर कोड होगा क्या कानून पार्लियामेंट में पास कराएंगे क्या ऑर्डर देंगे इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट के द्वारा उस तरह का कोई डिटेलिंग उन्होंने नहीं दिया ढाई साल हो गए और जब सवाल पूछो तो वो कांग्रेस वाला जवाब ही देते हैं कांग्रेस वाला जवाब क्या कि हमने कमेटी बिठा दी हमने कमेटी लगा दी है कमेटी को बोला है और कमेटी बिठा दी इसके बाद वो एक और कमेटी बिठाएंगे एक और कमेटी बिठाएंगे कमेटी के मामले में ये कांग्रेस इसलिए मैं आम आदमी पार्टी को कांग्रेस थ्री बोलता हूं क्योंकि आज से ही वो कांग्रेस वाले जवाब दे रहे हैं बीजेपी तो कम से कम इतने मंत्री एमपी आने के बाद इतने चीफ मिनिस्टर आने के बाद वो कांग्रेस हुई आम आदमी पार्टी तो आज से ही कांग्रेस वाले जवाब दे रही है कि हम कमिटी लगा दी है कमिटी है वो राइट टू रिकॉल का जवाब देगी तो राइट टू रिकॉल में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है वो एक बहुत अहम बात है जो आप इसको आम आदमी पार्टी के एक सच्चे वॉलेंटियर को कन्विंस कर सकते हो कि भाई इस आदमी को यदि राइट टू रिकॉल में इंटरेस्ट होता तो इसने ड्राफ्ट कब का रख दिया होता इतना पढ़ा लिखा आदमी है आई कानपुर का मैकेनिकल इंजीनियर है उसके बाद गवर्नमेंट में उसने पांच दस साल काम किया है बाद में एक्टिविस्ट की तरफ पांच दस साल काम किया है राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून ड्राफ्ट करने में उसने काफी दिमाग लगाया जन लोकपाल का 40 पेज का कानून ड्राफ्ट कर दिया एक दो तीन महीने के अंदर तो फिर राइट टू रिकॉल का तो एक पेज का दो पेज का ड्राफ्ट है उसको ड्राफ्ट करने में उसको ढाई साल क्यों लग रहे हैं क्योंकि उसकी नीयत नहीं है इंटेंशन नहीं है तो उसको इंटेंशन नहीं है तो फिर वो राइट टू रिकॉल की बात क्यों कर रहा है क्योंकि वो राइट टू रिकॉल के समर्थकों को धोखे में डालना चाहता है तो जो आदमी धोखे में कार्यकर्ताओं को धोखे में डालना चाहता है पब्लिक को धोखे में डालना चाहता है वो ईमानदार नहीं हो सकता किसी भी एंगल से इस बात पे कर सकते हैं दूसरा बहुत सारे लोग अरविंद भाई के समर्थक क्यों बने क्योंकि वो सोचते हैं कि अरविंद भाई व्यवस्था परिवर्तन लाना चाहते हैं मतलब कि गलती कांग्रेस बीजेपी की तो है वो तो दोनों भ्रष्ट पार्टियां हैं पर साथ साथ में व्यवस्था ऐसी है कि शायद कोई अच्छा आदमी एमपी बना यदि 200-300 अच्छे आदमी एमपी बने तो वो भी भ्रष्ट हो जाएंगे व्यवस्था इस तरह से व्यवस्था में दंड की कमी है और ऊपर से जो क्राइम करता है उसको फायदा होता है क्योंकि वो उसको कोई पनिशमेंट नहीं होती तो पेड मीडिया ने अरविंद भाई के समर्थकों को ये गोली पिला दी है कि अरविंद भाई वो व्यवस्था परिवर्तन लाएंगे और अरविंद भाई ने ये नाटक भी किए हैं बहुत सारे कि वो व्यवस्था परिवर्तन भारत में लाना चाहते हैं तो उनके एक्टिविस्टों को उनके जो कार्यकर्ता उनको कैसे कन्विंस किया जाए कि ये सिर्फ पेड मीडिया द्वारा खड़ा किया गया एक भ्रम है कि उनसे ड्राफ्ट मांगे जाए कि अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जज भ्रष्ट है हाई कोर्ट के जज भ्रष्ट है मजिस्ट्रेट भ्रष्ट है तो उनके अदालत में कुछ 16000 जज है और जजों की संख्या कम है वो तो सब बोल रहे हैं कि एक लाख करनी पड़ेगी तो उन्होंने अपने वेबसाइट पे कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट के जज मैजिस्ट्रेट और उनके जो मैजिस्ट्रेट को के का जो भाई भतीजावाद है और उनका जो भ्रष्टाचार है उसको कम करने का ड्राफ्ट क्यों उनको वेबसाइट पे नहीं डाला इसी तरह से मकानों के दाम आसमान छू रहे हैं जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं शहरों के अंदर तो मकानों के दाम करने, कम करने के लिए उन्होंने क्यों कोई ड्राफ्ट अभी तक वेबसाइट पे नहीं डाला हर एक में उन्होंने कांग्रेस वाला ही जवाब दिया कि हमने कमेटी लगा दी हमने कमेटी लगा दी आप कोई भी चीज पूछो तो उनके पास कमेटी का जवाब तैयार है और वो पिछले ढाई साल से वही जवाब दे रहे हैं कि इस पे पहले वो बोलते थे कि इस पे हम कमेटी बिठाएंगे अब बोलते हैं हमने कमेटी बिठा दी है वो कोई भी उठपटांग कमेटी का नाम दे देंगे कि हमने ये दस विशेषज्ञों की कमेटी बना दी है पांच इसके लिए वो ये काम करके देंगे हमको कब करके देंगे कुछ पता नहीं है और अब दूसरा कि अब आम आदमी पार्टी भले तीन चार महीने पहले शुरू हुई हो ये जनाब तो दस साल से पॉलिटिक्स में है चालीस साल से पृथ्वी पर है चालीस पैंतालीस साल से इस पृथ्वी पर है आईआईटी में थे तभी भी ये सोच सकते थे कि ये सारे समस्याओं का उपाय कैसे आए उस समय भी मकान को एकदम सस्ते नहीं थे उस समय भी आधे से ज्यादा लोग झोपड़पट्टी में रहते थे इसलिए रहते थे क्योंकि उनके पास मकान खरीदने के पैसे नहीं थे तो जितनी भी समस्या ये पेड मीडिया ने एक भ्रम खड़ा किया है कि अरविंद भाई व्यवस्था बदल के बहुत सारी समस्याओं का उपाय लाएंगे और बीजेपी और कांग्रेस वो तो साफ साफ बोलते हैं कि हमको व्यवस्था बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो झूठ भी नहीं बोलते एक पॉइंट से वो इस भ्रष्ट व्यवस्था को चालू रखना चाहते हैं पर एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि दोनों में से कोई झूठ भी नहीं बोल रहा कि हम इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते यहां पे बड़ा झूठ क्या है कि ये व्यवस्था परिवर्तन का दावा कर रहे हैं और उस व्यवस्था को और बिगाड़ रहे हैं जैसे कि राइट टू जन लोकपाल जिसमें राइट टू रिकॉल जन लोकपाल ना हो यानी और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा सारा का सारा पावर जो कि 11000 अफसरों के हैं उनके ऊपर 11 तानाशाह डिक्टेटरशिप ऑफ जनलोकपाल 11 जनलोकपालों की डिक्टेटरशिप आ जाएगी और वो जनलोकपाल वो एमएनसी के एमए एजेंट बन जाएंगे सबके सब। एमएनसी उनके एक एक दो दो रिश्तेदार को साल का 200 300 500 करोड़ दे देगी तो इस तरह से ये व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और जो व्यवस्था सुधारने के उन्होंने दावे किए कि वो ऐसे कानून लाएंगे कि मकानों के दाम कम हो जाएंगे भाई कानूनों का ड्राफ्ट दो वो ऐसे कानून लाएंगे कि महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी कानूनों के दाम वो ड्राफ्ट दो फिर एक एक चीज पे उन्होंने जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं वो आपको कार्यकर्ताओं को देने पड़ेंगे जैसे कि कुछ एक दिन पहले उन्होंने हरेक आदिवासी को मोबाइल फोन दो ये मेरा सुझाव था नक्सलवाद के संदर्भ में कि हरेक आदिवासी को एक फ्री मोबाइल फोन दे देना चाहिए ऐसा नहीं है कि मोबाइल फोन आने के दूसरे दिन उसकी गरीबी कम हो जाएगी पर उसको एडवांटेज क्या मिलेगा कि वो जंगल में से जो चीजें बटोर रहा बटोरता है जैसे बांबू है बहुत सारी जंगल की जड़ी बूटियां हैं उसको वो आसपास किसी मंडी में जाता है वहां पे एक दो व्यापारी होते हैं जो कि उसका सामान खरीदते हैं वो उसको बहुत कम दाम देते हैं मैं आपको एग्जाम्पल दू कि बांबू बांस सूरत में के आसपास काफी आदिवासी इलाके हैं वहां पे दो रुपए तीन रुपए चार रुपए में एक बिकता है बीस फुट दस फुट लंबा करीब और उसकी सिटी के अंदर कॉस्ट है तीस चालीस पचास रुपया अब उस आदिवासी को पता नहीं है कि सिटी के अंदर जो रिटेलर है वो कहां कहां पर है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है क्योंकि हर एक रिक्वायरमेंट मतलब कि हर एक आदमी को का स्टॉक खत्म नहीं हुआ होगा तो वो किसके पास जाए उसको पता नहीं है यदि उसको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि भाई ये पचास लोग हैं साठ लोग हैं दस सौ लोग हैं जो कि बांबू के रिटेलर है तो वो सीधा रिटेलर को बेच सकता है इतना ही नहीं यदि उस आदिवासी के पास मोबाइल है तो वो आदि जो रिटेलर है वो खुद आदिवासी को फोन करके पूछेगा कि तेरे पास इतने इतने में से कोई सामान है तो ला मैं तेरे को होलसेलर जो दाम देता है उससे मैं डबल तीन गुना चार गुना दाम दूंगा तो इससे क्या होगा कि जो होलसेलर की होलसेलर की जो मोनोपोली है वो कमजोर हो जाएगी टूट जाएगी तो जिस चीज का उसको आज पांच रुपया मिल रहा है दो रुपया मिल रहा है उसी चीज का उसको दस पंद्रह रुपया मिलेगा तो उसकी गरीबी कम हो जाएगी फिर और भी है मोबाइल फोन के आने के फायदे और मोबाइल में मैंने तीन चार चीजें कही थी कि महीने का पांच सौ मिनट का फ्री टॉक टाइम और पांच सौ मेगाबाइट का फ्री डेटा अपलोड डाउनलोड ताकि उसको एसएमएस भेजना हो या जो भी करना हो वो उसके लिए उसको कोई एक महीने का चार्ज ना है तो ऑटोमेटिक फिर दूसरा मैंने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है गांव में कभी कभी शहरों में छुट्टियों के टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है उसका दाम एक दिन का 200, 300, 400, 500 तक पहुंच जाता है और दूसरी तरफ आदिवासी होते हैं जो कि भूखे मर रहे हैं मतलब उनके एरिया में लेबर ही नहीं है तो उनको सिर्फ 20, 30, 40 रुपए मिलते हैं दिन के कभी कभी तो वो भी नहीं मिलते तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उसको पता नहीं है कि कौन-कौन आदिवासी अभी नौकरी चाहते हैं आदिवासी को पता नहीं है कि कौन-कौन लेबर कॉन्ट्रैक्टर है सिटी में जो कि मुझे ज्यादा अच्छा पैसा दे सकते हैं तो यदि दोनों के पास लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास तो मोबाइल है ही है यदि आदिवासी के पास मोबाइल आ जाए तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर उसको अप्रोच कर सकता है बुला सकता है फोन कॉल कर सकता है आने जाने का खर्चा सब वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर इंतजाम कर देगा तो इस तरह से उसको ज्यादा सिटी के अंदर टेम्पररी लेबर जब की स्कर्सिटी हो जाती है छुट्टियों के टाइम में उस समय उसको लेबर मिल सकता है तो ये सारे सुझाव की वजह से दिया था इन भाई साहब ने इसका विरोध किया ये मजाक उड़ा के कि भाई इससे क्या आदिवासी है वो डोमिनो पिज्जा मंगाएगा तो ऐसे पॉइंट पे उनको एक्सपोज किया जा सकता है कि जब गरीब आदमी को फ्री में मोबाइल देने की बात आई तो उन्होंने विरोध किया फिर इसी तरह से दिल्ली के अंदर जब उनके कार्यकर्ता ये बिजली के मुद्दे पे हस्ताक्षर कैंपेन कर रहे थे सिग्नेचर कैंपेन तब मैंने इनको कहा कि भाई आप कार्यकर्ताओं को कहो कि वो एक कर, आप खुद मीडिया पे अपील करो कि जो दिल्ली के एक दो करोड़ वोटर है वो एसएमएस से एमएलए को ऑर्डर भेजे तो इस बात का उन्होंने विरोध किया क्योंकि यदि नागरिक है वो एसएमएस से एमएलए को ऑर्डर भेजना शुरू करे एक बार तो कल बांग्लादेशी के मुद्दे पे भी एसएमएस भेजेंगे कि भाई बांग्लादेशियों को निकालो या तो ये कानून लाओ कि जिससे बांग्लादेशियों को निकालने में आसानी वगैरह तो आंदोलन उनके हाथ से निकल जाएगा वो आंदोलन को अपने हाथ में रखना चाहते हैं क्योंकि आंदोलन उनके हाथ से निकल गया तो फोर्ड फाउंडेशन उनको पैसे नहीं देगा मतलब मीडिया को पैसे नहीं देगा उनको उभारने के लिए तो ये सारे मुद्दे पे आप एक्सपोज कर सकते हो कौन कौन सा मुद्दा एक तो लोकपाल वाला फिर दूसरा कि उन्होंने बांग्लादेशियों को समर्थन दिया है उन्होंने दिल्ली में से भारत में से और दिल्ली में से बांग्लादेशियों को निकालने से मना किया है कि बांग्ला पहले तो वो बांग्लादेशी को बांग्लादेशी बोलते नहीं है उन्होंने बोला बांग्ला भाषी जब ये बोधो का और बांग्ला बांग्लादेशियों का झगड़ा हुआ था आसाम में जिसकी वजह से दो लाख बोधो को घर छोड़ने पड़े खेत छोड़ने पड़े और बांग्लादेशियों ने दो लाख बोधो के घर खेत हथिया लिए तब अरविंद भाई का एक वीडियो मैंने देखा था उसमें उन्होंने बांग्ला भाषी कहा उन्होंने उन बांग्लादेशियों को बांग्लादेशी तो बोला ही नहीं यानी बांग्ला भाषी यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट देना कि वो तो पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं भारत के ही हैं तो बांग्लादेशियों के मुद्दे पे उनको एक्सपोज किया जा सकता है तो ये सारे मुद्दों पे आप उनको सवाल पूछो कि भाई बांग्लादेशियों को भारत से निकालने के लिए आप क्या-क्या कानून मांगते हो तो जवाब यही देंगे कि कमेटी बिठा दिए तो इस पे आप फिर और पूछ सकते हो कि ये कमेटी है वो एक हफ्ते के अंदर ड्राफ्ट देगी या अगले जन्म में देगी और इतना टाइम क्यों लगना चाहिए आप तो कम से कम बीस साल से गवर्नमेंट में हो या पॉलिटिक्स में हो उन्होंने कुछ 1992 में इनकम टैक्स में नौकरी शुरू की थी तो कुछ दस एक साल वो दस बारह साल वो सरकार में रहे उसके बाद वो पॉलिटिक्स में रहे तो सारे ड्राफ्ट तैयार होने चाहिए कमेटी बिठाने की जरूरत क्या है और कमेटी जब तक ड्राफ्ट ना दे तब तक आपका जो अप्रोक्सीमेट ड्राफ्ट है प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट है वो तो पब्लिक के सामने कार्यकर्ताओं के सामने रखो तो इन मुद्दों पे आप एक्टिविस्ट को कन्विंस कर सकते हो कि ये आदमी को व्यवस्था परिवर्तन में इंटरेस्ट ही नहीं है तो भाई व्यवस्था परिवर्तन में इंटरेस्ट नहीं है तो आदमी पॉलिटिक्स में क्या कर रहा है पॉलिटिक्स में तीन वजह से आदमी इलेक्शन में खड़ा रहता है तीन ही रीजन होते हैं और कोई रीजन नहीं होता एक तो उसको खुद एमपी बनना है या एमएलए बनना है या पीएम बनना है या सीएम बनना है दूसरा उसको कुछ मुद्दे हैं जो कि उसको हाईलाइट करना चाहता है जैसे मैं राइट टू रिकॉल के मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए इलेक्शन लड़ता हूं अब जब मुद्दे उसको कोई कानून नहीं पास कराना और वो खुद पीएम बनने का तो उतने तो वोट आएंगे नहीं आम आदमी पार्टी के पास कि पीएम बन जाए उसके लिए तो तीस करोड़ वोट मिनिमम चाहिए पीएम बनने के लिए तो तीसरा एक ही रीजन होता है वोट तोड़ना या तो आदमी को खुद एमपी एमएलए पीएम सीएम बनना है इसलिए वो इलेक्शन लड़ रहा है जैसे कि मोदी साहब को पीएम बनना है और उसमें कोई बुरी बात नहीं है बनना है तो किसी न किसी को तो पीएम बनाना ही है हमारी भी तो जरूरत है तो इसलिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं दूसरा कि किसी को कुछ कानून लाने हैं भारत में उस कानून को पब्लिसिटी देनी है इसलिए वो इलेक्शन लड़ते हैं जैसे मैं लड़ रहा हूं और यदि ये दो में से एक भी मुद्दा नहीं है तो तीसरा मुद्दा एक ही हो सकता है कि किसी और के वोट तोड़ना तो वो किसके वोट तोड़ेंगे जो अनएजुकेटेड दलित है मुस्लिम है लेस एजुकेटेड अनएजुकेटेड तो नहीं कहगा वहां तो इनके आवाज जाएगी नहीं क्योंकि इनके पास कार्यकर्ता नहीं है तो सिर्फ पेड मीडिया पे डिपेंडेंट तो पेड मीडिया तो उनका कवरेज सिर्फ मिडिल क्लास में ही कर रही है तो मिडिल क्लास के वोट मिलेंगे उनको तो मिडिल क्लास के वोट मिलेंगे तो किसके वोट कम होंगे मिडिल क्लास है वो कांग्रेस को तो वोट देने नहीं वाला कांग्रेस और मोदी साहब दोनों को आमने सामने खड़ा करो तो मिडिल क्लास है वो मोदी साहब को ही वोट देने वाला तो इससे आप कार्यकर्ताओं को वोटरों को कन्विंस कर सकते हो कि ये भाई साहब है इनका एक ही नतीजा निकलेगा कि मोदी साहब के वोट काटना और इससे इसका सपोर्ट कम कर सकते हैं और सपोर्ट जैसे जैसे इसका कम होगा जो बीजेपी को 2014 में डैमेज हो सकता है वो डैमेज होने का कम होगा अब मेरा ये वीडियो बनाने का कारण क्या है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी जीते कांग्रेस जीते मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि जो कार्यकर्ता भारत में व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं वो एक गलत आदमी के पीछे अपना टाइम ना बिगाड़े क्योंकि अंत में उपाय कौन है उपाय वही कार्य करता है जो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने पैसे और घंटे लगाने को तैयार है पैसे मतलब डोनेशन नहीं मैं डोनेशन के खिलाफ हूं पैसे लगाने का मतलब है पैम्पलेट छपवाना अखबारों में एडवर्टाइज देना यानी कि सीधा खर्च करना कैंपेन के लिए पब्लिसिटी के लिए तो वही लोग अंत में उपाय लाएंगे और वो लोगों का आजकल टाइम वेस्ट हो रहा है वो टोपी पहन के घूम रहे हैं आम आदमी पार्टी की और वो ये Lokpal with no right to recall का प्रचार करके टाइम बिगाड़ रहे हैं और टाइम बिगाड़ रहे हैं उसमें देश का नुकसान क्या है कि हमारे यहाँ लाखों कार्यकर्ता टाइम बिगाड़ रहे हैं चीन में और अमेरिका जैसे देशों में कार्यकर्ता कम टाइम बिगाड़ रहे हैं बहुत कम टाइम बिगाड़ रहे हैं तो वो देश हमसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और इतिहास का ये दस बीस हजार साल पुराना नियम है कि दो देश में जो देश ज्यादा तरक्की करेगा वो पिछड़े देश को दूसरे देश को गुलाम बना देगा नो मर्सी नो एक्सेप्शन मजबूत मछली कमजोर मछली को खा जाएगी नो मर्सी नो एक्सेप्शन कोई दया नहीं कोई अपवाद नहीं और मछली यानी देश देश मजबूत कैसे बनता है कब बनता है जब वहां के कार्यकर्ता कम समय बिगाड़े और दूसरे देश के कार्यकर्ता ज्यादा समय बिगाड़े तो जहां ज्यादा समय बिगाड़ते हैं वो देश तुलना में कंपैरिजन में कमजोर हो जाएगा तो जो हमारा सबसे बड़ा खतरा है कि अमेरिका और चीन हम पे हमला कर सकते हैं वो ये टाइम वेस्टिंग एक्टिविस्ट लीडर की वजह से बढ़ रहा है धन्यवाद